फिर जब वो उसे करीब आता देख लेंगे तो काफिरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे और कहा जाएगा ये है वो चीज जिसे तुम मांगा करते थे